सिद्ध तदगमात असत्य ही और दूसरी बात यह है विकल्पना की उत्पत्ति के पूर्व में विकल्पना करने वाले को तो मानना ही पड़ेगा यही विकल्प करने वाला ही नहीं है विकल्प कहा जाएंगे इसे विकल्पना उत्पत्ति है प्राप्त विकल्प ही तो सिद्धत्व विकल्प ही स्वरूप को सिद्ध मानना ही होगा अतएव शून्यवाद की कोई प्रसति ही नहीं है असत्य अनुपत्ति ही कह ठीक है मान लिया आत्मा रूपये अधिष्ठान है लेकिन शास्त्र बड़े बेकार है क्योंकि ये शास्त्र आत्मा में कुछ भी नहीं कर पाता है ना आत्मा जब निर्गुण निराकार निर्धर्म निष्क्रिय है निष्कल है तो ऐसे तत्व तो शास्त्र क्या करेगा शास्त्र तो कुछ करना चाहिए ना उसे हेरा फेरी करे कुछ बदले वो सफाई करे या कुछ गंदगी हो कुछ हो कुछ तो करे न पुण्य न पाप न कुछ नहीं होता फिर क्या फायदा है शास्त्र के साथ ज्ञान के कथम पुनः स्वरूप व्यापार अभाव शास्त्र सुधि विज्ञान वर्गतम के स्वरूप में शास्त्र का कोई व्यापार ही नहीं लागू हो सकता फिर द्वैत विज्ञान की निवर्तकत्व भी हम शास्त्र स्वीकार नहीं कर सकते तो सिद्धांत कहते हैं नई से दोषा क्योंकि संग्रह बहुत सुंदर किया है अब तक जो कहा बात को आनंद गिरी का आत्मा द्वैत भ्रमाधिष्ठान संभावित सबसे पहला आत्मा तो जो है भ्रम का अद्वैत भ्रम का अधिष्ठान में निश्चय करा दिया फिर बाद साक्षित परिशिष्ट ये जो द्वैत का बाद हो रहा है तो उसका साक्षी के रूप में भी कुछ मानना पड़ा नहीं तो बाद मालूम किसको हुआ द्वैत बाहित हो गया द्वैत मिथ्या है इसको जानने वाला तो कोई होगा तो उसका साक्षी रूप भी आत्मा को सिद्ध किया गया है पूर्वम ब्रह्मोत्पत्ति स्वतः सिद्धता और अभी अंत में पंक्ति में कहा था ब्रह्मोत्पत्ति से पहले आत्मा को स्वर्ग सिद्ध मानना ही होगा इसलिए प्रमाण अभिषेक भले उसको हमारी इंद्रिया प्रमाणों का विषय नहीं हो रहा है फिर भी नास्त शून्यता इतम शून्यता नहीं है ये बात स्पष्ट कह दिया गया है इधानी अब ये तो निष्कर्ष निकल गया धर्मी जो आत्मा है जिसने सकल धर्म की विकल्पना हुई है वह धर्मी है ये बात साबित कर दिया इधानी प्रमित धर्मिणी प्रतिषेध दर्शनाथ लेकिन कहता है पूर्व पक्ष समय करता हुआ लेकिन हम किसी भी चीज का प्रतिषेध कहीं कर रहे हैं तो हमें क्या होता है वह अधिष्ठान की इंद्रियों का विषय होता है जैसे यहाँ पर हम घटो नास्ती कह दिया तो कहा पूछो गया पुत्र घटो नास्ती आप कहोगे अस्मिन भूतल है इस भूतल में घट नहीं है घर का आपने प्रतिषेद किया तो किसी ने किसी अधिष्ठान ने प्रतिषेद किया और अधिष्ठान आपको प्रमा ज्ञान विषेतन गृहित हो प्रमित है वो अधिष्ठान लेकिन जिस द्वैत को निषेध करने जा रहे हो किसी भी प्रमाण के प्रमित हो नहीं सकता है नहीं इसलिए द्वैत निषेध करने वाला शास्त्र निरर्थक हो गया प्रमित धर्मी प्रसिद्ध दर्शनार्थ आत्मनो अप्रमित और अभी आपकी सिद्धांत के मुताबिक आत्मा को प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापति किसी भी प्रमाण से आप जान नहीं सकते हैं ग्रहण नहीं कर सकते विश्व आत्मा को कभी प्रमित नहीं किया जा सकता है तो तथा द्वैता प्रमादगम शास्त्र संगत तथा उस आत्मा में द्वैत के अभाव को जो शास्त्र प्रतिषेध कर सिद्ध करना चाह रहा है वो निरर्थक साबित होगा अयुक्त ही साबित होता है उसी बात को संक्षेप मूल में कहा कि कथम पुनः स्वरूपे व्यापार अभावे शास्त्र से स्वरूपात्मक आत्मा में शास्त्र का कोई व्यापार जब लागू नहीं हो सकता फिर उस स्वरूप में शास्त्र के द्वारा द्वैत विज्ञान का निषेध प्रतिषेध या निवर्तन नहीं किया जा सकता जैसे जी कहता है नहीं दोष ऐसी कोई दोष नहीं है जैसे स्वरज्वाम से अविद्या रज्जु में जो सर्प अविद्या अध्यस्त है उसी प्रकार से सात्ता में द्वैत भी अविद्या से ही अध्यस्त है अविद्या के द्वारा अध्यस्त है कैसे अध्यस्त है कदम अभिनय करके बताओ कैसे अध्यस्त है वो कहते देखो दुनिया कहती है सुखी हम दुखी हम मूड हम जातो हम मृतो मृतोयम जीर्ण देहवार पश्यामी श्रृणोमी व्यक्तो अव्यक्त कर्ता फली सुयुक्तो वियुक्त क्षीणो वृद्धो मम ये सर्व आत्मनि अध्यारोप्यंग सभी लोग इस प्रकार से आत्मा में अध्यारोप कर रहे हैं मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं मूड हूँ मेरा जन्म हो गया अब मेरी मौत आ गई है मेरा शरीर दीर्ण हो गया मैं देह वाला हूँ और देह वाला के मैं अपने आप को देखता भी है मैं सुनता हूँ मैं देखता हूँ मैं व्यक्त हूँ अरे मैं तो सोते वक्त अव्यक्त था मैं करता हूँ मैं इन फलों को भोगता हूँ मैं विषयों से पत्निया संयोग करने वाला हूँ मैं ही इन सबसे युक्त वियुक्त भी होता जब कोई चीज खो गया मर गया तो क्या हो गया आप उसे वियुक्त हो कि नहीं गए मैं क्षीण हो गया मेरा शरीर क्षीण हो गया है क्यों मैं बूढ़ा हो गया हूँ ये सब मेरे हैं ममा ये थे इस प्रकार का जो है सर्वे जरा आत्मनी अविद्या अध्यारोपण थे अविद्या के अध्यारोप कर लेते हैं और उस अध्यारोप जो हुआ है उसी को बांधता है शास्त्र इसलिए आत्मा में कुछ करता नहीं है शास्त्र जैसे आपकी भी जो वृत्ति जब यम रज्जु करके ज्ञान कर लिया तो सर्व का प्रतिषेध किया है फिर सर्व का प्रतिषेध कर उसको करना क्या पड़ा केवल अधिष्ठान की अनुभूति करनी पड़ी अधिष्ठान कुछ में और फर्क कुछ नहीं किया वैसे रज्जु में कुछ फर्क दिया गया रज्जु तो वही कवही है उसमें क्या अंदर पड़ा आपके द्वारा रज्जु को जानने मात्र से ही अविद्या सहित जो अध्यारोप करने वाली कौन है सर्व को अविद्या तत्सहित सर्प भी स्वाहा हो जाता है उसी प्रकार शास्त्र द्वैत का जो प्रतिषेध करते हैं आत्मा में क्यों प्रतिषेध कर रहा है ताकि हमारी दिमाग आत्म में जाए जैसे पहले आप पुरुष क्या करते हैं दस वस्तु का विवेचन किया पंचदशी को ध्यान कर में लाओ वहा क्या विचार किया सबसे पहले आचार्य क्या कहते हैं आत्मपुरुष पुरुष दशमो न हमारा तो दसवा मरा नहीं है साहब की कान खड़े हो जाते नहीं मरा नहीं नहीं मरा अरे कौन है वीरो फिर अनुभव कराएगा वैसे यहाँ पर भी सीधा कहेंगे तुम ब्रह्म है तो क्या समझ में आएगा पकड़ नहीं आता इसलिए पहले उसको ये जो दिखाई देता तो द्वैत को शास्त्र क्या करेगा प्रच्छेद करेगा द्वैतो नास्ती जैसे बात आप कह रहे द्वैतो अस्थि वो कह रहे दशमो ममारा इस बात पहले क्या हो गया दशमो न ममारा तब यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा पहले तो द्वैतो नास्ती किम अस्थि कथम अस्थि कुत्र अस्थि जैसे तो पूछेंगे तब जो उसके अनुभव करो फिर आत्मा के लिए वर्णन किया कि अपूर्वम जो है अनपरम इत्यादि इत्यादि शब्दों से अस्तुलम अनालो इत्यादि शब्दों के द्वारा उसके स्वरूप को लक्षित किया ताकि स्वरूप को परिवहन कर सके इधर रज्जु स्वरूप में भी ऐसे पहले जो घबरा कर में दूसरा क्या कहेगा सर्पो नास्ती सबसे पहले कहा सर्पो नास्ती नीलम रजतम तब उसकी दृष्टि जाती है शुक्ति में रज्जु में तो भ्रम निवारण आत्म के आप पुरुष यहाँ जैसे कर रहा है उसी प्रकार शास्त्र आत्मा में अध्यारोपित तो द्वैत का निवारण मात्र करता है प्रचलित उसे काम होता ही है क्योंकि अज्ञात ज्ञापक होता है शास्त्र कारक नहीं होता शास्त्र आत्मा के ऊपर जाए द्वैत को निकाल करके थोड़े बाहर करेगा जैसे आपके चाय में दूध में कहीं मक्खी पड़ जाए तो मक्खी निकाल कर रख देते हो हाथ से और पी जाते ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या करेंगे क्या शास्त्र आकर के दर्द को निकाल के आपको आत्मा पिला देगा क्या आत्मा का अनुभव करेगा नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि शास्त्र कभी कारक नहीं होता वो केवल ज्ञापक होता है क्योंकि शास्त्र कोई मूर्त वस्तु नहीं है सक्रिय वस्तु नहीं है क्रिया कारक आदि भेद वाला वो नहीं है वह शब्दमय है वो केवल ज्ञापन ही कर सकता है वह कारक नहीं बन सकता अतः द्वैत प्रच्छेद के द्वारा आत्मा के स्वरूप को ज्ञापन करने के प्रयास करता है वही कार्य भाषाकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए आत्मनी अध्यारोप्यंते आत्मा एक इसलिए आत्मा क्या है इन सभी अवस्थाओं को जो कुछ भी आप ले रहे हो दृश्य रूप देख रहे हो सुन रहे हो समझ रहे हो इन सभी में वो आत्मा अनुगत है सर्वत्र अव्यभिचारा क्योंकि कहीं भी एक क्षण के लिए भी सूर्य के नोक के बराबर देश में भी इस आत्मा के अभाव आप ग्रहण नहीं कर सकते विचार का मतलब क्या उसके अभाव ग्रहण हो जाना उसका विचार आयोग गलत में देख लो पवन नहीं है वहां धूम नहीं है वन्य तो है धूम नहीं है इसलिए विचार माने जाए लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है सर्वत्र आपका मिलेगा कोई देश ऐसा नहीं कोई काल ऐसा नहीं कोई वस्तु ऐसा नहीं जो आत्मा के बिना हो अगर सर्वत्र आत्मा व्यापक होने के नाते विभु होने के नाते सर्वत्र है तो कहीं उसको विचार होता नहीं इसलिए सभी में आत्मा अनुगत है पहले मूड बुद्धि वाले कैसे कहना पड़ेगा सभी में बाद में समझ में आएगा आपको कि आत्मा में सब कल्पित है शुरू तो यही कहना पड़ेगा भाई सभी में आत्मा है अब कोई आदमी टीवी देख रहा है और उसी में मोहित हो गया वो कैसे समझाओगे ये चित्र नहीं है सब चित्र स्क्रीन में है समझाने से नहीं ग्रहण करेगा पहले उसको कहना पड़ेगा इन सभी चित्र में स्क्रीन व्याप्त है क्योंकि ये जो चीज चित्र है स्क्रीन के बिना हो नहीं सकते अतएव अंत में कहना पड़ेगा स्क्रीन में ही ये सब चित्र है उसी प्रकार से यहाँ पर मंदाधिकारी का दृष्टिकोण से कह दिया आत्मा अनुगत सर्वत्र विचारात यथा सर्वधारादि वेदेश सर्वधारा सर्वधारादि सकल वेदों में रज्जु व्याप्त है यदा एवं विशेष स्वरूप प्रत्यक्ष न कर्तव्य शास्त्रीण जब ऐसा विशेष स्वरूप का ज्ञान सिद्ध स्वरूप है वहाँ पर शास्त्र के द्वारा कर्तव्य कुछ भी नहीं है शास्त्र कर्तव्य कुछ नहीं अकृत कर्तृच शास्त्र शास्त्र तो अज्ञात ज्ञापक मात्र ही अकृत कर्त में अज्ञात ज्ञापकत्म शास्त्रोत्तम और जो शास्त्र सिद्ध की अनुवाद करे वो प्रमाण नहीं है कृतानुकारित्व अप्रमाण कि सिद्ध वस्तु का अनुवाद कर दिया वो प्रमाण करने कोई जरूरत नहीं जैसे कह दिया वेदों में लिख दिया अग्नि हिमस्य भेषजम अग्नि जो है ठंडी का सबसे भारी दवाई है अरे तो सारी दुनिया जानती है इसको वेद बोलेगा तभी प्रमाणिक होगा क्या बात वेद बोला है इसलिए अग्नि ठंडी को दूर करती है क्या ये तो लोक सिद्ध है लोक सिद्ध बात को वेद ने कहीं स्तुत्यादि रूपेण इस्तेमाल करने के लिए अनुवाद किया ऐसे को हम प्रमाण वाक्य नहीं मानेंगे क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है अन्य प्रमाण ये शास्त्र के शब्द किसको कहते हैं अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ मीमांसा दर्शनकार ने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है इस शब्द का वही अर्थ को वास्तविक अर्थ तो मानेंगे जो अन्य किसी प्रमाण से लभ्य नहीं हो उसी विषय में उस शब्द को हम प्रामाणिक मानते हैं यदि अन्य प्रमाणों से लभ्य अर्थ का बोध कर दें वो अप्रावण के अनुवाद मात्र ही है इसके कृता कृत मैंने सिद्ध वस्तु का अनुकारित्व मैंने अनुवाद करने मात्र से सिद्धानुवादित्व अप्रमाणम वो प्रमाण नहीं माना जाता ये तो अविद्याध्याद सुखित्वादि विशेष प्रतिबंधाद्यवात्म स्वरूप अवस्थान स्वरूप अवस्थान श्रेय जिसने देखिए यह शास्त्र का कोई काम धंधा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये सब जान रहे हैं अविद्या से अध्यारोपित विशेष के रूपी प्रतिबंध के कारण से आप अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित नहीं है और श्रेय क्या है स्वरूप अवस्थान श्रेय है स्वरूप में अवस्थित होना ही मुक्ति है इतना करना क्या है शास्त्र इतना ही करेगा इसमें ऐसी स्थिति में आत्मा में तो कुछ कर नहीं सकता केवल आत्मा में आपके स्वरूप स्थिति न होने का कारण क्या था वो जो अविद्याध्यान विशेष प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को प्रतिषेध करेगा प्रतिबंध का वो निवारण कर रहा है सुखित्व निवर्तकम शास्त्र आत्मनि असुखित्व प्रत्यय करण नेते स्थूलादि वाक्य आत्मस्वरूपबद्ध सुखित्वाद्यपि सुखित्वादि वेदेश नानवृत्तोस्ती धर्म करे द्वैत का निवर्तक शास्त्र है तो शास्त्रों के अंदर कार्य का तो आई गया शास्त्र तो आत्मा से द्वैत को अलग कर रहा है तो कर ही दिया ना उसने फिर कारकत्व तो आ गया कैसे आप कहते शास्त्र हमेशा ज्ञापक होता है कारक नहीं होता तो करता करता है नहीं बोल कराता है आप ऐसा कहते हो नहीं शास्त्र से आप हम में अनुभूति करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है यदि शास्त्रों की कृपा से द्वैत गायब हो जाता है तो शास्त्रों ने तो द्वैत को बिठाया कारकत्व की आशंका कर रहा है सुखित्वाद निवर्धकम शास्त्रम सुखित्वाद निवर्धक कौन है तो कहते हैं कि भाई निवर्तक शास्त्र के सुखित्व आत्मा में था क्या कि निवर्तन करेगा वो आत्मा में है ही नहीं पहले से तो निवृत्ति क्या करेगा इसलिए कहते हैं कि बड़ा विलक्षण है यहाँ पर साधन साध्य सारा मिथ्या है शास्त्र में मिथ्या है जो द्वैत निवृत्त किया वो भी मिथ्या है निवृत्ति करना भी मिथ्या है सब मिथ्या है बड़ा आश्चर्य है ना इसीलिए आदमी को वेदांत समझ में नहीं आता ये कैसा होगा अधिष्ठान मात्र सत्य है बाकी सारा खेल झूठा है उसको मिटाना भी झूठा है वो है बोलना भी झूठा है अध्यारोप भी झूठा है अपवाद भी झूठा है सब झूठा है अध्यारोपवाद अभ्याम कह तो दिया निष्प्रपंचम प्रपंच इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा है देखिए आत्मनि असुखित्वादि न क्योंकि शास्त्र क्या कर रहे हैं आत्मा में आदि का ज्ञान पैदा किया नहीं कर दिया तद द्वारा शास्त्र ने आत्मा में आदि को निवृत्त कर दिया है ऐसा कौन सा वाक्य है जो आत्मा सुखित्व आदि का बोल करा करके सुखित्व का निवृत्त कर रहा है कहते नीति नेति अस्तूल मणलो इत्यादि शब्द है ये शास्त्र है ये जो शास्त्र क्या कर इन वाक्यों के द्वारा जैसे आत्मस्वरूप का बोल करा रहा है ठीक उसी प्रकार से असुखित्व प्रत्यय के द्वारा सुखित्व आदियों का निवृत्ति कर रहा है शास्त्र आत्मस्वरूपवत कर दिया जैसे शास्त्र क्या कर रहे हैं आप तो स्वरूप को लक्षित करेंगे नहीं कर रहे नेत्र इत्यादि के द्वारा आप स्वरूप को लक्षित कर रहे हैं जैसे ठीक उसी प्रकार से असुखित्वादि प्रत्यय रूपा जो आत्म स्वरूप है उसका बोध कराने के द्वारा सुखित्वादि का निवर्तक होने से शास्त्र में कारगत तो दोष आ गया तब सिद्धांति कहता है भाई ये नहीं हो सकता क्योंकि असुखित्वादि अपनी सुखित्वादि भेदेश नानुवृत्त सुखित्वादियों में आत्मा अनुगत कहा था ना अभी जो भी दृश्य है सुखी दुखी मोड़ो जातो वगैरह वगैरह इन सभी में क्या है आत्मा अनुगत एक गया था जैसे सुखित्व में दुखित्व में सभी में आत्मा अनुगत है उसी प्रकार क्या सुखित्व में असुखित्व में अनुगत है क्या हो ही नहीं सकता क्यों सुखित्व और असुखित्व परस्पर विरोधी है दुखित्व और अदुखित्व परस्पर विरोधी है जातत्व अजातत्व परस्पर विरोधी है तो कैसे अनुसूचित होगा एक अधिष्ठान में दोनों हो नहीं सकता ना जहाँ सुखी तो असुखी तो हो नहीं सकता इसलिए एक दूसरे में अनुसूचित कैसे व्यवहार करोगे और आत्मा में सुखित्व भी अनुसूत है आत्मा में असुखित्व भी ये कहा जा सकता है सुखित्व और असुखित्व तो दोनों में आत्मा है ये कहा जा सकता है क्योंकि दोनों ही अध्यारोप है सुखित्व भी आत्मा में अध्यारोप था उसको निवृत्त किया शास्त्र और असुखित्व का जो कथन कर रहा है ये भी अध्यारोप मात्र इसलिए सुखित्व में आत्मा भले अनुगत है किंतु सुखित्व में असुखित्व अनुगत नहीं माना जा सकता कद असुखित्वादि अपनी सुखित्वादि भेदेशो वो धर्म उसमें अनुवृत्त है ऐसा आप नहीं कर सकते क्यों परस्पर विरुद्ध स्पष्ट ही है अरे जहाँ सुखित्व रहेगा वहाँ असुखित्व रहेगा क्या नहीं रह सकता जहाँ असुखित्व है असुखित्व नहीं रह सकता इस सुखित्व अधिष्ठान में असुखित्व अनुसूत होना या असुखित्व का अधिष्ठान में सुखित्व अनुसूत होना यह कदापि संभव नहीं है इसलिए शास्त्र असुखित्व आदि प्रत्यय के द्वारा सुखित्व निवृत्त करने के बावजूद भी आत्मा में कारक नहीं बना ये निष्कर्ष है यदि अनवृत्त न ध्यारोप्य था यदि अनिवृत्त है तो अध्यारोप ही नहीं होता क्योंकि जहाँ असुखित्व है वहाँ सुखित्व का अध्यारोप नहीं हो सकता जहाँ सुखित्व है वह असुखित्व का अध्यारोप नहीं हो सकता क्यों क्यों आरोप है तो क्यों सुखित्व आदि लक्षण विशेष यदि अनुवृत्त है वहाँ असुखित्व आदि फिर तो सुखित्व आदि रूपा जो विशेष धर्म है इनका पद्यारोप ही नहीं कर पाएंगे जैसे उष्णत्व वाला वन्नी में शीतत्व का अध्यारोप नहीं हो सकता यथा उष्णत्व विशेष होती अग्नो शीतता नीचे टिप्पण में बहुत सुंदर का इसलिए कारकत्व मैंने कारकत्व तो जनकत्व अवगंत कारकत्व से क्या लेना ज्ञान से इतर कार्य को भी उत्पन्न कर देना का नाम ही कारकत्व है यथार्थ तो शास्त्र जन ज्ञान से सुचित्व निवर्गत्व शास्त्र निवर्तकत्व व्यवहार औपचारिक भाव विशेषा इसलिए हमें क्या मानना पड़ेगा शास्त्र जन ज्ञान सुखित्व निवृत्त करके असुखित्वादि का प्रत्यय के द्वारा आपको अपने आत्मस्वरूप का अवबोध करा दिया इसका मतलब यह नहीं है कि कारक हो गया उसमें जो निवर्तकत्व है वो भी औपचारिक है तस्मात इस निष्कर्ष निकला निर्विशेष आत्मनि सुखित्वादि विशेषा कल्पिता इसलिए निर्विशेष आत्मा में सुखित्व विशेष कल्पना हुई थी ये तो सुखित्वादि शास्त्र ये जो असुखित्व शास्त्र कह रहे हैं वो क्या है आत्मस्त सुखित्ता विशेष निवृत्त अर्थम वो केवल आत्मा में अध्यारोपित सुखित्वादि को दूसरे अध्यारोप करके असुखित्वादि अध्यारोप के द्वारा निवृत्त कर रहा है जैसे आप जो है कोई पहले से कोई रंग चढ़ा हुआ है किसी चीज में तो उसको क्या किया दूसरा रंग चढ़ा दिया उसके ऊपर पहला रंग मिटा दिया पहला अधिष्ठान तो वैसे को ऐसे रहा आपके रंग का बदलने से अधिष्ठान के सब में कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं फर्क वो तो वैसे तो वैसे वैसे यहाँ पर एक अध्यारोप सुखित्व आदि जिसके कारण से आप बद्ध अपने आप को महसूस करते रहे उसको हटा करके असुखित्व शास्त्र का अध्यारोप कर दिया ताकि सुखित्व की निवृत्ति हो जाए तारस अध्यारोप की वजह से आपके अपने आप को क्या माना आपने अपने आप को मुक्त मान लिया सुखित्व त्यारोप के कारण से अपने आप को बद्ध मान रहे थे और शास्त्र की सहायता से असुखित्व का त्यारोप करके अपने आप को मुक्त मानकर अपने स्वरूपानुभूति का स्वीकार करते हैं और कहते हैं अब हम आत्मा के स्वरूप अवस्थित हो गए इतना ही फर्क है, है दोनों ही अत्यारोप सिद्धांत निवृत्त इसलिए आगम विधान सूत्रम ये आगम का सूत्र है सिद्धंत निवर्तकत्वा परशक्त सहकार सहकारिणी व शास्त्र प्रवृत्ति जनकत्व टिप्पण का स्पष्ट कार्य देखिए इस सूत्र की व्याख्या बता रहे परशक्त शक्ति सहकारिणी व शास्त्र से प्रवृत्ति जनगत वो है परशक्ति शक्ति सहकारिणी पदार्थ का बोध करने में शक्ति क्या है सहकारिणी होती है ये मुक्तावली में निश्चय कर दिया गया है अखिल धर्म शून्य ब्रह्मात्मी न कश्या भी पद से शक्ति रस्ती सकल प्रकार के धर्मों से रहित जो विशुद्ध ब्रह्म में किसी भी पद की शक्ति तो हो नहीं सकती धर्मवत ये शक्यता कहीं धर्मवार वस्तु ही पद का शक्य होता है तथा च शास्त्र से तत्र प्रामाण्य संभव इस शास्त्र की प्रामाण्यता आत्मा में घटाना संभव नहीं है इत आह सिद्धंतो निवर्तक सिद्ध वस्तुओं में इसलिए क्या होता है केवल अध्यारोप का निवृत्ति करना ही प्रमाणों का काम है उस वस्तु में कोई हेरा फेरी करना प्रमाण का काम नहीं है प्रमाण का इतना ही काम है जहाँ सिद्ध वस्तुओं के ऊपर यदि प्रमाण प्रवृत्त हुआ कोई भी प्रमाण यहाँ तो शब्द के विचार है चाहे प्रत्यक्ष अनुमान उपमान कोई भी प्रमाण प्रवृत्त होता है सिद्ध वस्तु प्रवृत्त होता है तो वह आरोपित वस्तु को निवृत्त करने के लिए ही प्रवृत्त हो सकता है सिद्ध वस्तु के स्वरूप का अवबोध कराने या कुछ भी करना उस प्रमाण का कार्य नहीं है वो कर भी नहीं सकता जो तो स्वतः सिद्ध है उसमें क्या करेगा वो तो सिद्ध वस्तु में प्रमाण तो कुछ भी नहीं कर सकता यदि प्रवृत्त हुआ भी है वो आरोप का निवृत्ति करने मात्रात्मक कार्यो करेगा उससे तो स्वरूप में कोई कार्य उसका नहीं होता इस बात आगम विद्या लोग स्पष्ट अपने सूत्र के द्वारा समझाए हुए हैं यह दो नंबर टिप्पण भी देखने लायक है आत्म वस्तु निर्विशेषत्व है आदि विशेष वेव स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये आदि विशेष क्या था अध्यारोप शीर्घ सी प्रकार से अस्त्र शास्त्रोक्त असुखित्वादी विशेषत्व अविशेष कल्पित आयु विशेषास्त्र वो भी उसमें कल्पित नहीं है ये तो असुखित्वादी इत्यादि शास्त्र कट वो भी कल्पित तो है ही है लेकिन एक कल्पित का निवृत्त करने वाले दूसरा कल्पित वस्तु है इसका लाभ क्या है उसे स्वरूपानुभूति हो जाती है और उस निवर्तक भी सुंदो पुसुंद न्याय से वो भी गायब हो जाएगी सुंदो पुसुंद न्याय से वो भी स्वाहा हो जाएगा अविद्या भी गई वो जो अस्थूलत्व अनामत्व असुखित्व आरोप वो भी गया साथ साथ दोनों ही चले क्योंकि शास्त्र रूपी अविद्या का जो कार्य है उसके में रक्षण है सभी में रक्षण है सुंदर ने सब जगह थोड़ा लगा तो होगा अब घट पैदा हो गया कपाल भी नष्ट घट भी नष्ट हो जाएगा क्या है तो घट तो रहता है कपाल का नष्ट होगा ना घट तो नष्ट होगा कपाल इधर सुंदो व सुंदर न्याय सर्वत्र लागू नहीं होता किंचित वस्तु में सामर्थ्य होता है जाए लागू किया जा सकता है ये जो अंत शब्द है वो क्या करता है उपांत शब्द को नाश करता है स्वयं भी नष्ट होता है श्रवण करने के पश्चात यानी श्रवण किए तो क्या हुआ वो जो अंत शब्द प्रभाव आया हुआ है वो अंत शब्द क्या करता है अपने पूर्ववर्ती उपांत शब्द को नाश करने के साथ साथ स्वयं भी नष्ट होता है विचित्रंग न्याय तट पर आए हुआ अंतिम तरंग ने क्या किया अपने पूर्व तरंग नाश के साथ साथ स्वयं भी नष्ट हो जाता है यानी उसी प्रकार से ये शास्त्र रूपी जो अविद्या का कार्य में विलक्षण होता है ये क्या करेगा ये जो अपने सज्जनी जो अस्तुलत और आदि के सहित उस अविद्या को भी नष्ट कर देगा सुंदर को सुंदर है जानते हैं ना नहीं जानते अरे सुंदर को सुंदर न्याय सुप्रसिद्ध न्यायों में से दो राक्षस थे एक का नाम सुंद था दूसरे का नाम उपसुंद था ये दोनों राक्षस महाबली बड़े बलवान थे सारी दुनिया को अपने मुट्ठी में बना दिया परेशान हो गए लोग और क्यों इनको वरदान ही प्राप्त था कोई ने मार ही नहीं सकता अपने आपस में मर सकता कोई मारी ये बड़े बुद्धिमान राक्षस थे कि बाकी से जितने भी राक्षस ने मांगा तो दिन में लगा तो सब उल्टा पुल्टा मांगे सब वो तो भगवान तो सारी लीला ही देता है अब इन्होंने इतने चाल चला कि हम भगवान के हाथ में ना मार सके मरे तो हम दो तो भाई आपस में एक दूसरे को मार के मरना पड़ेगा अब युक्ति सोचने लगे अब ये दोनों आपस कभी लड़ेंगे ही नहीं परम प्रेमी दोनों भाई है इतना प्यार है की बस एक दूसरे के श्वास समान चल रहा हो जैसे दो शरीर एक पहाड़ जैसे जी रहे थे कैसे उनको मारे है बड़ा मुश्किल है तो उर्वशी का एक बेटी थी जिसका नाम था तिलोत्तमा तिल तिल क्षण प्रतिक्षण ही उत्तम सौंदर्यता को प्राप्त कर लेती थी उसकी शरीर जिसके कारण उसका नाम तुलोत्तमा हो गया आप देखते हैं देखते हैं आप आधे घंटे में नाम खोल के जाओ तो दूसरी हो जाएगी वो वैसे सुंदर हो जाएगी पहले वैसे सुंदर फीका हो जाएगा ऐसा जीव सौंदर्य बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है तिल प्रति तिल बढ़ ऐसी तिलोत्तमा थी अब उसको भेजा गया तुम जाओ इनको फंसाओ आपस में लड़ाओ इनको किसी तरह से औरत ही काम आती आपस में लड़ाने का ये भी कहा इसका दृष्टान का फल है तो वह क्या वो गई तो उसको देख करके दोनों के मन ललचा गया अब दोनों कहने लगे मेरी पत्नी बनेगी वो तो मेरी पत्नी बनेगी आप ऐसा करते दोनों मिलके इसको पत्नी बना लेते हैं है ना ऐसे पंच पांडव एक पत्नी को सकते हैं हम दोनों एक पत्नी नहीं सकते क्या फिर पांच भाई एक पत्नी को बना लिए हम तो दो ही भाई है उसमें क्या दिक्कत है ओके कर दिया दोनों आपस में स्वीकार कर ले हम लड़ेंगे नहीं हम दोनों मिलकर इसको अपने पत्नी बना लेंगे अब तिलोत्तमा देखिए तो गड़बड़ हो गया तो उसने कहा लेकिन मेरा एक कसम है क्या मैं एक पतिव्रता होंगी दो तीन पांच नहीं एक ही पतिव्रता होगा मैं एक ही होगा पति मैंने कसम गा लिया है बचपन से मेरा पति एक ही होगा अनेक हम नहीं बनाएंगे अब समस्या होगी दोनों के सामने कौन होएगा दोनों में से तो सुनिए इतनी नहीं मेरी दूसरी शर्त है जो संसार से घर से बलवान पुरुष होगा उसी से मेरा विवाह होना है और मेरे को पता चला संसार में सबसे बलवान आप दो हैं आप दो में से एक ही तो मेरा पति हो सकता है ना इसलिए हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि आप दोनों में से बलवान कौन है जो होंगे उनका पत्नी बनो अब लालची कारण से दोनों का मैं बलवान हूँ और मैं बलवान हूँ अब भिड़ंत आ गए ना जो आज तक कभी लड़े नहीं थे अब चालू हो गए दोनों के बीच में लड़ाई लड़ते लड़ते सब तो आपसे लड़ो मेरे सब बराबर होते होते अंत में क्या किया दोनों एक दूसरे गला दबा दिया दोनों इकट्ठे हो सुंदर पर तो सुंदर न्याय से होकर वैसे यहाँ पर अविद्या का कार्य तो शास्त्र स्व तो अविद्या के सहित दोनों के दो नष्ट हो जाएंगे तो इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर कर दिया विशेष निवृत्तम इति सिद्धम वह स्थूलता जो आत्मा के अंदर सुखित्ता का कथन कर रहा है शास्त्र वो विशेष सुखित उसके निवृत्ति करने के लिए इसे उपोत्मूलक सूत्र भी जरे सिद्धम सिद्धंत निवर्तक अगली कार्य का आरंभ होती है ये जो बात कहा गया अतएव हम कहते हैं कि आत्मा में निरोध है न उत्पत्ति है न बंध है न मुक्त है न मोक्ष है कुछ भी नहीं है यही परमार्थ है सामान्य विशेषात्मक वस्तु जो नाना रस वाला है ये आपके मत के अनुसार निरोध आदि जो है ना सुसाध्य है इन तो अनुभव में क्या आ रहा है सामान्य विशेषात्मक जगत अनुभव में आ रहा है और यह जगत में हम ये देख रहे हैं नाना विध वाला है सामान्य विशेषात्मक नाना विधता से साथ अनुभव में आ रहा है अनेक विध रूप अनुभव में आ रहा है अतएव उनको उत्पत्ति लय आदि मानना ही होगा और अनुभव सिद्ध है उत्पत्ति लय हम स्वयं घट को उत्पन्न कर रहे हैं और मार देते उस घट को तोड़ देते हैं तो घट लय हो जा रहा है आप कैसे कहते हो न निरोध हो न उत्पत्ति सब कहते हैं कि उत्पत्ति लय सब कल्पना है तो आप कर रहे हो कहते तो मैं उत्पन्न कर दिया घट को मैंने इस घट को लीन कर दिया ये सब आपकी केवल कल्पना है भावैरसद्भिर च कल्पितः शिवा कहते हैं असद्विर अद्वयेन च कल्पितः अद्वयेन च असदिर्भावैर अयम् संसारो कल्पिता रज्जु सर्पादि की भांति ये जो आत्म तत्व है प्राणादि अंत जो सद्भाव है ये सब के साथ और अपना द्वित रूप जो हम कर रहे ना ये भी कल्पित है जो कह रहे हैं ये आत्मा अद्वैत रूप है ये भी कल्पना बड़ा कठिन काम हो गया अद्वैत लक्ष्य कह रहे ना असंग असत्य भाव अद्वैत लक्ष्य अयम आत्मा एवं कल्पित आत्मा ही अपने आप को शास्त्र दृष्टिया अद्वैत कह रहा है और वही आत्मा में समझ जगत भी असत भाव के द्वारा कल्पित है एकमेव अद्वितीय आत्मा स्वयं अपना द्वैत भाव को भी और द्वैत भाव को भी द्वैत द्वैत सरल भाव वास्तव में कल्पित है सत्य आत्मा ही है ये भी शब्दों से जो बोल रहे हैं ये बोलना भी मिथ्या है है तो बस है वो बस बोला ही नहीं जा सकता उसके बारे में इसे कहा गुरु मौन व्याख्यानम शिष्या तो छिन्न संशया इस आत्मस्वरूप के बारे में पूछोगे तो बोल ही नहीं सकते और बुद्ध भगवान ने यही किया जब जब आत्मा के प्रश्न पूछे चुप मौन हो जाता लोगों ने कहा इसका मतलब आत्मा ही नहीं तभी हमारे गुरु जी बोल नहीं पाए कुछ यदि कुछ होता आत्मा नाम का चिड़िया तो उसका वर्णन जरूर करते इन्होंने किया नहीं इसलिए आत्मा शून्य है चेड़ों की अपनी बुद्धि क्या करे ये गुरु भी ऐसे ही रहा गुरु जान करके तो आया ना भगवान नास्तिकवाद फैलाने के लिए आए थे शिष्यों के दिमाग में शिष्या तो छिन्न संशय नहीं हुआ गुरु मौनम व्याख्यानम शिष्या तो अछिन्न संशय हो गया वहां पर अरे बुद्ध भगवान तो गुरु थे और शिष्यों का किसी दिमाग को संशय दूरी नहीं उल्टा शून्य बैठ गया खोपड़ी में सब तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ दक्षिणामूर्ति गुरु थे सत्यों में अब उन्होंने जैसे शिष्यों को दिया होता वृद्धा शिष्य गुरु युवा युवा के रूप में प्रकट हुए और सारे बूढ़े ऋषि लोग बैठे हुए थे कि भाई आप किस बात के चिंतन करते शास्त्र करते हुए बैठे हुए तो ऋषा मूर्ति भगवान सूर्य ने कहा कि भगवान हम तो आत्मा के चिंतन कर रहे हैं अभी तक उसका स्वरूप निर्णय नहीं हो पाया अच्छा काम बंद करो सब बैठ जाओ चुपचाप हम भी चिंतन करते हैं आप भी चिंतन करो कोई आत्मा हम एवं वैसे प्रश्न लेकर के बैठ जाओ सब प्रश्न लेके बैठ गए ध्यान बन गया सब से दूर हो गया हमें बात अनुभव हो गया बात खत्म और यहाँ गुरु जी नास्तिक बात फैलाने था तो वही भगवान है जो दक्षिणा मूर्ति था वही तो बुद्ध हुआ कोई दूसरा है क्या है कि दूसरा है कोई वही जो है बुद्ध भी हुआ वही बाद में कटमुल्ला भी हुआ मोहम्मद पैगम्बर वही जीसस क्राइस्ट भी हो गया वही सब हो रखा है और जान के कलयुग में सब उल्टा पलटा करने के लिए सब रूपों में आता है वही ज्ञानेश्वर महाराज हुआ वही कबीरदास है वही सब सारी कल्पनाएं तो है, है कहा ये कबीर भी क्या है एक कल्पना है नहीं है बसेश्वर महाराज क्या है ये भी कल्पना है जितनी भी ये सब क्या है असद भी भाव ही रेव ये आत्मा ही इन असद भावों के द्वारा कल्पित है अद्वैन ये जो अद्वैत भाव मान रहे हो वो अद्वैत भाव भी कल्पित भावाप्य नहीं नहीं क्योंकि जो प्रयाणी जो असद भाव भी है ना वो अद्वैत सब सबसे क्या है आत्मा में ही कल्पित है अद्वैय रूपेण हुआ आत्मनि कल्पिता अद्वैत शिवा अतएव आपका अपना स्वरूप अद्वैत भाव ही मंगलमय है तो ये भी कल्पित भाव है लेकिन एक कल्पित भाव और दूसरे कल्पित भाव दोनों कल्पित हैं यानी इसकी अपेक्षा से ये कल्पना ज्यादा श्रेष्ठ है ज्यादा कल्याणकारी है दोनों कल्पना कि मैं आसुकित रूप वाला हूँ सच्चिदानंद स्वरूप हूँ ये भी एक कल्पना है लेकिन यह कल्पना आपका स्वरूप की ओर ले जाने वाली कल्पना होने के कारण से स्वरूप अवस्थान तदादृष्ट स्वरूप अवस्थान की ओर ले जाने वाले होने से यह कल्पना शिवा मैंने कल्याण रूपा कल्पना है कल्याणात्मिक कल्पना जगत कल्पना की अपेक्षा से ये श्रेष्ठ कल्पना है जितनी भी अन्य असद द्वैत भाव है द्वैत भाव पदार्थ है उन कल्पनाओं की अपेक्षा से अपने अद्वैत भाव की कल्पना श्रेष्ठ क्योंकि वह अपना स्वरूप प्रतिष्ठित कर देने वाला है इन सब कल्पनाओं से श्रेष्ठ कल्पना कौन हुआ अद्वैत भाव की कल्पना इसलिए अपने अपने संप्रदाय अपने अपने गुरु चेला अमुक डमुक आश्रम ताश्रम जितने भी आप सोच रहे हो वो तो संसार से श्रेष्ठ मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो आप अपने आप को देख लीजिए भाई अपना गारस्थ धर्म की अपेक्षा से आप ग्रस्त क्यों नहीं बनना चाहते क्यों नहीं बनना चाहते क्योंकि आप उसमें ये समझ रहे हैं उसमें दुख है बबाल है और संन्यास आश्रम आप मान रहे है ये सुखरूप है यह झंझट नहीं बबाल नहीं कहीं भी बैठो कहीं भी सो खाओ पियो काम चल यानी आप ही अभिमान से गड़बड़ा जाते हैं उठने बैठने से परेशानी हो जाती है प्रणाम करने में परेशानी किसको प्रणाम करे किसको ना करे बड़ा सोचते महात्मा और कर क्या बात है भाई अरे सर्वम कर ब्रह्म सोच रहे हो फिर किस बात सोचना है कोई भी आए जात पात क्या देखना जात पात देखो गृहस्थी का काम फिर गृहस्थी हो जाओ वो अच्छा है ये अपने आप में अभिमान करना ही है तुमको कि मैं ब्राह्मण होता हुआ सन्यासी हूँ और ये जो शूद्र सन्यासी है मैं इसको प्रणाम नहीं करूंगा फिर तो तुम सन्यासी ना होते तो अच्छा था क्योंकि नरक में ले जाने का काम कर रहे हो जो भेद बुद्धि उस गहस धर्म का स्वरूप है उसी भेद बुद्धि को सन्यास आश्रम में आने के बाद भी खोपड़ी में रखे हो फिर तो सन्यास निरर्थक हो जाएगा घातक है उसी को कारण आत्मा गीता जी में बिहार तो शास्त्रार्थ में वो पंडित आपसर है वो बड़े बड़ा वेदांत ज्ञान रखता है लेकिन वो पंडित आपसद है वो आत्मा है भाष्यकार को खुलम खुला है बाप का है इसलिए संन्यास का मतलब ये सब भावों से पर उठकर अपने अद्वैय भाव जो सर्वश्रेष्ठ है उस भाव में उस कल्पना से कल्पना उस कल्पना से कल्पना श्रेष्ठ मान के आ ही रहे हैं आप गृहस्थ आश्रम के रूपी कल्पना से सन्यास आश्रम भी कल्पना को श्रेष्ठ माने ना होते तो आप सन्यास आश्रम में आते ही नहीं आप उस कल्पना के उस कल्पना को श्रेष्ठ माना है जैसे आपको ड्राइंग मास्टर बना दिया जाए तो पता चलेगा है ही नहीं सौ बच्चे हैं सौ बच्चे अपनी अपनी कल्पना कर देते हैं ड्राइंग बना देते सबको बराबर मार्क्स दे देते हो क्या नहीं आप कहेंगे इस बच्चे ने जो कल्पना करके चित्र बनाया उस चित्र के अपेक्षा इस बच्चे से कल्पित चित्र श्रेष्ठ है कहते कि नहीं कहते हो और उसको जो अंक मिलता है अंक में तारतम्यता तो इसलिए हो जाता है इसलिए कल्पनाओं में भी पूर्वोत्तर कल्पनाओं में एक दूसरे श्रेष्ठता और निकृष्टता का व्यवहार होता ही है संसार में नियम है अतएव द्वैत भावों की कल्पना की अपेक्षा से अद्वैत भाव की कल्पना श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि द्वैत भाव की कल्पना केवल असत्य ही नहीं है क्योंकि साथ साथ वे आपको बंधन का अनुभव करा देते हैं और अद्वैत भाव की कल्पना यद्यपि असत है किंतु आपको मुक्त भाव की अनुभूति करा देता है इसलिए वह श्रेष्ठ इसलिए कहते हैं तस्माद्वैता द्वैता शिवा इसलिए यह अद्वैत भाव जो है ना वह कल्याण स्वरूप है मंगलमय भाव है समझो पुरुष हेतु पुरुष कथित अर्थ के प्रति कारण को प्रस्तुत कर रहे क्यों ऐसे कहा गया न निरोध और न चोत्पत्ति इत्यादि क्यों कहा आपने उसमें कारण बता रहे ज्वाम असदमी सर्वधारा भी अद्वैन च रज्जु द्रव्य सदा अयम सर्प इन धारा दंडो यमिति रज्जु द्रव्यम एवं कल्प्यते है इस रज्जो में असत सर्प धारादियों के साथ अद्वैत रज्जु द्रव्य भी विद्यमान होते हुए कल्पना किया स्वयं भी अपना रज्जु क्या है अद्वैत में रह रहा है कि नहीं रह रहा है रज्जु अपने आप के अद्वैत भाव को बनाए रखते हुए सब सदैरादित्वय भाव को कल्पना कर बैठा है स्वर्ण होता अविद्या से हमारी अविद्या से भी दूसरे की अविद्या से नहीं रज्वावचन चेतन का आवरण होता विद्या से रज्वावचन चेतन ने ही कल्पना किया सर्प को स्वानुरूप कल्पना करता है ये आप कल्पना किए हो जो तो सर्प क्यों कल्पना कर दे कल्पना कर दे तो सोने का रसी है नहीं आपकी कल्पना में स्वतंत्रता नहीं है इसे स्पष्ट हो रहा है कि हम कल्पना नहीं कर रहे हैं दृष्टा कल्पना नहीं करता है रज्जो चैतन्य ही स्वर्णित अविद्या जो क्षुब्ध क्षुब्ध है अविद्या उस अविद्या का तमगुण को लेकर के स्व आकार अनुरूप आकार वाले वासना को लेकर वह सर्प को उत्पन्न करता है धारा को उत्पन्न करता है दंड को उत्पन्न करता है जो भी वही उत्पन्न करे वह हाथी घोड़ा को पैदा करके दिखाता नहीं क्योंकि चैतन्य में भी वासना है क्यों चैतन्य सर्वत्र व्यापक है यानी सभी में आत्मा अनुगत है आपने कहा रज्जु में भी आत्मा अनुगत वहां भी वासना है वासनाओं का समुद्वलन करने वाला इस दृष्टा की वृत्ति इतना ही फर्क है दृष्टा की वृत्ति चैत वृत्ति और चिन्ह चेतन आ गया ना वो जब तक वहाँ एकीभूत नहीं होगा तब तक सर्प का प्रत्यक्ष नहीं आपको हो सकता क्योंकि व्यक्ति को जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसको क्या कारण है वृत्ति और चिंतन प्रमेय व चिंतन प्रमात्रा और चिंतन की ऐक्यता वेदान परिभाषा आप अच्छी तरह से समझे उसके बिना अवस्था का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता है कारण है कि देखो कीटत्वेन च रज्जु द्रव्येण रज्जु द्रव्य के सहित रज्जु ने कल्पना किया रज्जु ने रज्जो चिंचेतन के रज्जु द्रव्येण सदा अयम सर्प इम धारा दंडो अयम इति च वा रज्जु द्रव्यम कल्पते रज्जु द्रव्य ने ही कल्पना किया कोई दूसरा नहीं गड़बड़ा करना रज्जु द्रव्य अपने अंदर विद्यमान भाव सहित ये सब द्वैत को भी कल्पना कर लेता है और वास्तव में रज्जु अपने आप में न द्वैत है न सर्पादि द्वैत सर्पादी जो द्वैत भाव प्रकट कल्पना हुई है उसके दृष्टिकोण से हम रज्जु में एक अद्वैत भाव नाम का धर्म को आरोप करते हैं न तो रज्जु तो रज्जु है और न अद्वैत है न द्वैत है या नहीं इसलिए कहते रज्जु ने क्या किया अपने आप में एक अद्वैत भाव को स्वीकार करके सर्पधारा आदि विकल्पना और विद्वय भाव को किया है कल्पना किया एवं प्राण भी अनंत है असद भी एव अविद्यमान न परमार्थ प्राणादि कैसे है अनंत है कितने कार्य हो गया अनंत है और कैसे है असद विरेव असद वीर का व्याख्या करते हैं अविद्यमान एवं न परमार्थ तो विद्यमान परमार्थ तो विद्यमान है नहीं अप्रचलित मन से कश्चित उपलक्ष्य तुम शक्ति तो क्या नहीं चलता जैसे ही देख लीजिए आपका मन जब अप्रचलित हो गाढ़ सुशुद्धि में आपका मन कैसा है अचंचल है उस अवस्था में क्या किस विषय का प्रदेश होता है क्या हो कि इसी विषय को उपलक्षित कर सकता है या किसी विषय से विशिष्ट हो सकता है या किसी विषय को आप अध्यारोपित कर सकते हो नहीं